बोध से ही प्रत्येक आत्मा आत्म विषय च मतम अमृतत्व हेतु बोध का वास्तव स्वरूप आत्मा ही है और आत्म विषय का जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है टीका में बुद्धि परिणाम से सर्वस्व भाषक प्रत्येक चैतन्य परमात्मा न भवती पूर्व जी कहता है बुद्धि परिणाम है जो ज्ञान प्रतिबोध उसका जो प्रकाशक है ये परमात्मा बुद्धि परिणाम सर्व का प्रकाश है प्रत्येक चैतन्य वो परमात्मा न भवती स्वयं हम बुद्धि को जानते हैं प्रत्येक चैतन्य प्रत्येक आत्मा बुद्धि परिमाण नाम का प्रकाशक है बुद्धि का वृत्ति का साक्षी है वो परमात्मा नहीं होगा परमात्मा तो ब्रह्मांड के बाहर कहीं ऊपर होगा किंतु ब्रह्मांडाद बहिस्थित ब्रह्मांड के बाहर परमात्मा है हम हम तो जीव है संसारी है परमात्मा कोई ब्रह्मांड के बाहर होगा तत्प्राप्ति से मोक्ष हाँ वहाँ जाकर पहुँचेंगे तो मोक्ष होगा यहाँ ज्ञान हो गया मुक्त हो गया ऐसा नहीं इत्याशं के शंका करने पर सिद्धांत कहते नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्व होती आत्मत्वाद आत्मन अमृतत्व निर्निमितमेव आत्मनो अनात्मत्व अनात्मत्व की प्राप्ति आत्मा से भिन्न न आत्मा इति अनात्मा आत्मा से भिन्न कोई है ब्रह्मांड के बाहर उसको प्राप्त करेंगे आत्मा से भिन्न तो अनात्मा हो गया अनात्मा की प्राप्ति अमृतत्व ये क्या है आत्मनो अनात्मत्वम अनात्मत्व का तो अनात्मा प्राप्ति टिप्पणी में दिया है अनात्मा की प्राप्ति आत्मा के लिए अमृतत्व मुख्य ये अमृतत्व क्या अनात्मा जड़ बन जाएगा ये मोक्ष नहीं आत्मत्वाद आत्मन अमृतत्व निर्निमितम एव आत्मा तो स्वयं स्वरूप है आत्मा है चेतना दृग रूप है वो मुक्त स्वरूप ही है आत्मा में अमृतत्व निर्निमितम कोई निमित्त से नहीं किस निमित्त से यदि मोक्ष होगा तो अनित्य हो जाएगा स्वरूपत मुक्त है यदि आत्मा स्वरूपत मुक्त नहीं होगा किसी क्रिया से किसी के द्वारा मुख्य नहीं हो सकता है यदि आत्मा में स्वरूपतः स्वभावतः कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार दुख मानेंगे तो स्वभाव का की निवृत्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं हो सकता है मोक्ष का विधान किया गया तो आत्मा में स्वभावत बंधन नहीं जो स्वभावत धर्म है उसकी निवृत्ति ज्ञान से कैसे होगी स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति नहीं होती आत्मा कर्त्रादि रूपस्य माकांक्षी तरी मुक्तता नहीं स्वभाव भावान व्यावर्ते दौस्नेव द्रवे आत्मा यदि कर्ता भोक्ता संसारी है माकांक्षी तरी मुक्तता मुक्ति की इच्छा छोड़ दो इच्छा नहीं करो स्वाभाविक यदि कर्ता होता है स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति कभी नहीं होगी नहीं स्वभाव भावान व्यावर्ते भाव पदार्थ का स्वभाव निवृत्त नहीं होता है औष्ण्य द्रव्य है सूर्य हो और उष्णता तो स्पर्श नहीं रहे वन्य उष्ण स्पर्श नहीं रहे ऐसा नहीं हो सकता है सूर्य में तो प्रकाश उष्ण स्पर्श रहेगा ही और वो नहीं रहेगा तो सूर्य ही नहीं रहे प्रलय हो गया वन्य भी नहीं रहे ये तो अलग बात है और सूर्य रहे प्रकाश उष्ण नहीं रहे ये नहीं हो सकता है आत्मा रहे और उसमें संसार बंधन यदि वास्तव है तो उसका अभाव नहीं हो सकता है और उसका अपना अभाव हो गया तो उसको मोक्ष नहीं कहते हैं आत्मा स्वयं नष्ट हो गया तो मोक्ष क्या हुआ कोई बंदी में है मर गया तो मोक्ष नहीं बंधनों से मुक्त होकर के बाहर आए तो मुक्त होगा वहीं मर गया तो क्या मुक्त हुआ इसलिए आत्मा का नाश मोक्ष नहीं और आत्मा में स्वभाव तो धर्म रहेगा तो उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है और ज्ञान से कहा गया ज्ञान से प्रश्न ही नहीं ज्ञान से तो केवल जो वस्तु है उसका प्रकाश होगा जैसे प्रकाश से वस्तु यदि घट है तो प्रकाश से दिखेगा ये नहीं कि प्रकाश जब बहुत जलाएंगे तो घट बन जाएगा कहीं घट उत्पन्न हो जाएगा जितने भी प्रकाश जलाओ घट नहीं है तो दिखेगा हैं अधिक प्रकाश नहीं दिखेगा क्या नहीं दिखेगा हाँ हो तो हो तो दिखेगा हो तो घट दिखेगा नहीं हो तो दिखेगा क्या घट हो तो दिखेगा अधिक प्रकाश से हैं क्या कहा कहाँ कम प्रकाश तो नहीं दिखा ना दिखेगा घट हो तो दिखेगा कम प्रकाश भी दिखता है नहीं हो तो जितने प्रकाश नहीं दिखेगा इस प्रकार ज्ञान होने पर यदि आत्मा मुक्त नहीं तो अमृतत्व तो कैसे होगा स्वभावते तो हो तो निवृत्त नहीं होगी इसलिए आत्मा में जो अमृतत्व तो निर्निमितम टीका में अनात्म प्राप्त है कर्म फलवत अनित्यत्वेन अमृतत्व प्रसिद्धि न स्यात् इत्यर्थ अनात्मा की प्राप्ति आत्मा से भिन्न की प्राप्ति जैसे स्वर्ग कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो स्वर्ग काम याग स्वर्ग साधन है तो कर्म फल होता है स्वर्ग जिस प्रकार कर्म फल स्वर्ग अनित्य है जो कर्म करके पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाएगा वो स्वर्ग में अनंत काल तक रहेगा नहीं क्षीण पुण्य मर्त्यलों का फिर नीचे आएगा जिस प्रकार स्वर्ग आदि कर्म फल अनित्य है इसी प्रकार आत्मा से बिना अनात्मा प्राप्ति कर्म फल के समान अनित्यत्व न अनित्य होगा और अनित्य होगा तो अमृतत्व प्रसिद्धि न से आदि अनित्य को अमृतत्व नहीं कहा जाएगा अमृतत्व अमरण भाव नाश नहीं होगा रहेगा तब तो अमृतत्व है और अनित्य हो जाएगा तो अमृतत्व प्रसिद्धि नहीं होगी इसलिए अनात्मा की प्राप्ति मोक्ष नहीं है आत्मा आत्मा से भिन्न कोई कहीं है वहां प्राप्त करें तो मोक्ष ऐसा नहीं है यदि परिहार परिहाराय औपाधिक भेदेन भिन्नत्वं ब्राह्मण ब्राह्मण स्वतः आत्मत्वमेव इति मन्यते तत्र यदि इस परिहार करने के लिए क्या मानेंगे ब्रह्म में भिन्नत्व औपाधिक भेदेन भिन्नत्व औपाधिक भेद रहने से ब्रह्म भिन्न हुआ वास्तव भेद नहीं है ब्रह्म में जीव के अपेक्षा भेद औपाधि का भेद उपाधि प्रयुक्त भेद उपाधि के कारण भेद हो जाता है जैसे एक बिंब है दर्पण नाना दर्पण में प्रतिबिंब नाना दिखते हैं औपाधि के भेद बिंब और प्रतिबिंब में भेद बिंब और प्रतिबिंब में भेद किसके कारण दर्पण के कारण दर्पण हो तो प्रतिबिंब अलग दिखता है नहीं तो नहीं है इसी प्रकार औपाधि का भेद यदि मानेंगे ब्रह्मण सतत तो है सत ब्रह्म तो आत्मा है उपाधि के कारण न दिखता है दर्पण जो दिखता है अपना मुख ही दिखता है अलग कोई है ही नहीं किंतु उपाधि को लेकर भिन्न मानते हैं तत्र आत्मत्वाद आत्मन अमृतत्व निर्निमितम आत्मा आत्म स्वरूप यदि हुआ स्वाभाविक है तो अमृतत्व से निर्निमित निमित्त के बिना स्वतः मुक्त है ब्रह्मण आत्मत्वादेव आत्मन अमृतत्व स्वभावतव सिद्धम ब्रह्म स्वयं आत्मा ही है अनात्मा नहीं है औपाधिक भेद होने पर वास्तव अभिन्न है आत्मा ही है तो आत्मा होने से आत्मा में अमृतत्व स्वभाव से सिद्ध तो सिद्ध स्वभावतः तो कुछ कृत कार्य नहीं किसी क्रिया से नहीं किसी उत्पन्न नहीं होता है हाँ कार्य होगा तो नष्ट हो जाएगा अनित्य हो जाएगा कार्य नहीं है स्वभाव तो सिद्ध है केवल अभिव्यक्त हो जाता है घट अंधकार से दिखता नहीं प्रकाश से दिखने लगा इसी प्रकार मुक्त मुक्त स्वरूप है आत्मा अज्ञान से अपने को बद्ध मानता है अज्ञान नष्ट हो गया तो मानता है मैं मुक्त हूँ रज्जु में सर्प दिखता है भ्रांति से जो रज्जु का ज्ञान हो गया कहते नायम सर्प ये सर्प अभी नहीं पहले भी नहीं था इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है मैं कभी बद्ध नहीं था अभी तो मुक्त हूँ स्वभावत मुक्त हूँ मेरे में बंधन पहले भी नहीं था आगे भी नहीं होगा जैसे रज्जु में सर्प तीनों काल में नहीं है रज्जु देखने पर निश्चय होता है ब्रह्म ज्ञान होने पर देखता है कि मैं तो बद्ध कभी नहीं था और स्वरूप में बंधन हो नहीं सकता है झूठा ज्ञान के कारण मैं बद्ध बद्ध मानता था देहादि धर्म को आत्मने में आरोप करके तो स्वभावत सिद्ध तरी विद्या अनर्थ क्यों प्राप्तम यदि आत्मा में अमृतत्व तो सिद्ध है निर्निमित है बिना कारण है तो फिर ब्रह्म विद्या का क्या प्रयोजन रहा उसके लिए इतने श्रवण मनन करना समदम आदि करना साधन सब प्राप्त करना अमानित तबिंद कितने साधन है तो भी ज्ञान नहीं होता है कहते मन निर्निमितम आत्मा में मोक्ष किस निमित्त से आता है किस निमित्त से नहीं स्वतः है स्वभाव तो जो वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ेगा या धीरे-धीरे जाना पड़ेगा वो तो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने के कुछ करना नहीं पड़ेगा तो फिर विद्या व्यर्थ होगी यदि आत्मा में अमृतत्व तो स्वभावत सिद्ध है अविद्या ने कहा था तरी अविद्या अनर्थक प्राप्त विद्या अनर्थक होगी इति आशंका एवं मर्त्यत्वम आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही आत्मा में जो मर्त्यत्व मरण धर्म जन्म मरण संसार आदि है वो कहाँ से आया मर्त्यत्व आत्मा तो नित्य मुक्त है आत्मन यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति अज्ञान से अनात्मत्व की प्रतिपत्ति देहादि में अहम बुद्धि रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है सर्प के अज्ञान से अनात्मा तो प्रतिपत्ति अनात्मत्व की प्राप्ति देहादि में आत्मत्व प्रतिपत्ति अनात्मत्व प्रतिपत्ति मतलब अनात्मा को अपने मानना आत्म भिन्न को मैं मानना देहादि आत्मा भिन्न है उसको हम मानना यही यही है मर्तत्व मर्त्यत्व है और कुछ नहीं अज्ञान के कारण देहादि में हम बुद्धि करना और ज्ञान हो गया तो नष्ट हो गया इतने समाप्त हो गया अविद्या देहादि आत्मत्व प्रतिपत्ति यत तद आत्मनमर्त्यत्वम तन्निवृत्ति विद्याफलम इत्यर्थ अविद्या के कारण देहादि में आत्मत्व प्रतिपत्ति देहादि अनात्मा है देहादि अनात्मा में आत्मत्व प्रतिपत्ति अनात्मन आत्मत्व प्रतिपत्ति अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति अनात्मन प्रतिपत्ति अनात्म को आत्म मानना यही है बंधन मर्त्यत्वम जो अविद्या के कारण देहादि अनात्मा में आत्मत्व निश्चय यही आत्मनमर्त्यत्व वही आत्मा में मरण धर्म है बंधन है और उसकी निवृत्ति विद्याफलम तनिवृत्ति विद्याफलम विद्या व्यर्थ नहीं हुई जो अज्ञान के कारण देहाद में आत्म तो बुद्धि होती जिसके कारण अपने को बद्ध मानता था वो ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति हो गई भ्रांति की निवृत्ति हो गई विद्या ब्रह्म विद्या क्या करेगी अनात्मत्व भ्रांति और मर्त्यत्व तो भ्रांति के निवर्तक है ब्रह्म ज्ञान भ्रांति निवृत्ति होती तो व्यर्थ हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म निवर्तक है निवृत्ति विद्या फल विद्या का फल है आम अमृतत्व हो गया स्वाभाविक हो गया स्वाभाविक यदि अमृतत्व है आगे कथम पुनर्यथोतया आत्मविद्या अमृतत्व विंदते आह अभी आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति यथोतया आत्मविद्या प्रतिबोध विदितम प्रत्येक बोध साक्षी को ही जान ले आत्मरूप से आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है का आत्मना स्वयं सर्पण विंदते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम आत्मना लभते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम आत्मना का तो स्वयं सर्पण स्वभावतः प्राप्त होता है लभते वीर्यम वीर का तो बलम सामर्थ्यम वीरम क्या है टीका में वीरम विद्याकृतम उक्तम मुक्तत्वे विवृणति विद्याकृतम वीर्यम ब्रह्म विद्या से जो प्राप्त होता है सामर्थ्य वो कहा गया विद्याकृतम वीरम उक्तम आत्मना विंदते स्वयं रूपेण विद्या सामर्थ्य प्राप्त करता है वो क्या है विवृणति नेदम धन सहाय मंत्र औषधि तपोकृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात् क्या रहा नेद नेदम नेदम आ गया या? अच्छा इधर नेदम इधर नहीं नहीं गलत हो गया ये पदभाष्य विद्या वीर्यम विद्याकृतम मुक्त मुक्तत्वे दाढ़्यम तच्च स्वाभाविकमेव मुक्तत्वम वास्तव सर्वशरीरादि असंसर्गित्वान नभवन निरवयत्वादेव वीर्य विद्याकृतम उक्तम विद्याकृत वीर्य जो कहा गया मुक्तत्व दाढ़्यम वही वीर्य है मुक्तत्व दाढ़्यम ब्रह्म ज्ञान होने से मैं मुक्त हूँ ऐसा निश्चय होता है किंतु दृढ़ होता है मैं मुक्त ऐसे ज्ञान होने पर भी जब संशय विपर्य पूरा नष्ट नहीं होता है मुक्तत्व की दृढ़ता नहीं होती है कभी देहादि में अहम बुद्धि हो जाने से फिर मानता मैं दुखी हूँ संसारी हूँ तो ये कृत विधेय दृढ़ दृढ़ता जब बार बार ऐसे स्थिति उसमें निरंतर अनात्मा में स्थिति छोड़ करके आत्मा में स्थिति निरंतर जिसको कहते निष्ठा नित्यनाम स्थिति अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव लगातार चलता है तो दृढ़ हो जाता है वो संशय विपर रहित हो जाता है वही वीर्य सामर्थ्य नित्य मुक्तो हम अस्मि ऐसे दृढ़ हो जाता है दृढ़ता ही यही सामर्थ्य विद्या होने पर ब्रह्म विद्या के पहले तो कभी थोड़ा ऊपर ऊपर से मान लिया मैं मुक्त तो फिर संसारी दुखी है ज्ञान होने के बाद भी जब विपर्य देहादि में अहम बुद्धि है तब दृढ़ नहीं होता है ज्ञान में दृढ़ता ही है संशय विपरीत विपर्य रहितत्वम दृढ़ नहीं होने पर कोई कोई उसको परोक्ष कह देते हैं जब दृढ़ नहीं हुआ तो परोक्ष ज्ञान हुआ संशय विपर नष्ट होने पर मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान दृढ़ होता है अर्थात अपरिचय होता है ऐसा कोई कहते हैं कोई कहते विवरणकार पहले भी अपरिचय है अपरिचय होने पर भी दृढ़ नहीं हुआ दृढ़ अपरिचय नहीं है तो दृढ़ अपरिचय है जब संशय विपर रहित हो जाए वही ज्ञान ज्ञान का निवर्तक अपरिचय शब्द प्रयोग करते पहले किंतु संशय विपर्य होने से अपरिचय से अपरिचय जैसे नहीं लगता है इसलिए कुछ आचार्य कहते हो अपरिचय नहीं परोक्ष ज्ञान है अपरिचय तो संशय विपर्य नष्ट हो तो संशय विपर्य नष्ट होने पर जो ज्ञान है उसको अपरिचय कहो दृढ़ अपरिचय कहो और कोई कह कहते अपरिचय तो पहले हो जाता है किंतु प्रतिबंधक रहता है प्रतिबंधक संशय और विपर्य जब प्रतिबंधक रहता है ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया प्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है प्रतिबंधक निवृत्त हो जाने पर ज्ञान क्या होगा अप्रतिबद्ध अप्रतिबद्ध ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा अप्रतिबद्ध ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो अप्रतिबद्ध होने होने के लिए किसकी निवृत्ति होनी चाहिए संशय विपर्य निवृत्ति कैसे होगी मनन निधिध्यासन के द्वारा संशय विपर्य नष्ट हो ज्ञान अप्रतिबद्ध होगा तो अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान पहले अपरोक्ष ज्ञान होता है किंतु प्रतिबद्ध है अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा जब संशय विपर नष्ट होगा तो ज्ञान क्या होगा अप्रतिबद्ध उसको अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान कोई कहते दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान वही अज्ञान का निवर्तक कोई कहते पहले ज्ञान का परोक्ष अभी अपरोक्ष हुआ अर्थात संशय विपर रहित ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है जो वेदांत श्रवण करने से तत्वमति से जो थोड़ा समझ में आया विचार करने के बाद वो दृढ़ हो जाता है क्या तो संशय विपर रहित हो जाता है तो उस समय देखता है कि मैं नित्य मुक्त हूँ तो ये दृढ़ता है यही आत्मविद्या कृतम बल है तो तब क्या होगा अनात्म तिरस्कार नायम आत्मा ही नहीं लभ्य जो कहा बल क्या है आत्म विद्या से सारे विषय दृष्टि का तिरस्कार यही बल है आत्मज्ञान से बल रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प भय थोड़ा थोड़ा रहेगा नहीं रहेगा बल हो गया पुनः जाग पहुंच जाएगा रज्जु में सर्प देख डर है सब जिसको रज्जु प्रत्यक्ष हो गया और सर्प के पास जाएगा रज्जु सर्प के पास जाएगा रज्जु सर्प के पास जाएगा या डरेगा मार देगा रज्जु सर्प जाकर पकड़ लेगा पकड़ लेगा आपको यदि रज्जु ज्ञान हो जाएगा रज्जु सर्प को जाकर पकड़ सकते हो बोलो डर नहीं लगेगा <laughs> पकड़ ले हाँ रज्जु का ज्ञान हो गया तो कोई नहीं डरेगा बच्चे भी खेलता है इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान रज्जु का ज्ञान हुआ कि संशय पता नहीं रज्जु या सर्प है कोई रज्जु देखो रज्जु देखो देखा रज्जु थोड़ी देर में सर्प नहीं नहीं वो तो सर्प है जाएगा पास में <laughs> नहीं संशय नष्ट हो गया तो दृढ़ हो गया इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ दृढ़ निश्चय जित हो गया तो अनात्म बुद्धि का तिरस्कार दृढ़ होकर गया यही नायम आत्मा बल ही न लभ्य बल क्या शारीरिक बल नहीं मोटा तगड़ा बड़े लंबा चौड़ा होगा तो ज्ञान मोक्ष प्राप्त करेगा नहीं बल है यही बल है आत्मविद्या दृढ़ होने से अनात्म दृष्टि का तिरस्कार अनात्म का तिरस्कार और ज्ञान दृढ़ हो जाएगा अनात्म वस्तु की इच्छा करेगा और कुछ नहीं अब भोजन आदि प्रारब्ध से जो प्राप्त हो ठीक है किसी की कोई जरूरत नहीं जितने जितने दृढ़ होता है इतने इतने वैराग्य है इतने तो ना सकते है किसी की अपेक्षा नहीं जो अज्ञान है तो इदम में से आते इदम में से आत इदम से आते ऊपर चाहते कुछ नहीं चाहे हमको मोक्ष चाहिए अंदर चाहता है बहुत चीज चाहता है ऊपर बोल सकता ना नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए हम इंद्रपद में लेगा तो फेंक देंगे गंगा जी डाल देंगे इधर थोड़ी कुछ कोई कह दिया तो नहीं ऐसा क्यों कहा हमको हमको सम्मान करना चाहिए सम्मान की इच्छा है हमें ऐसे कह दिया हमको तो ये इच्छा का अभाव होता है जब निष्ठा स्थित प्रज्ञ तो है और जब स्थित प्रज्ञ तो कब होगा प्रजहाति जा कामान इच्छा का त्याग करे तो वेदा विद्या का अभ्यास करे और वृत्ति तिरस्कार करे कुछ नहीं चाहे तो आत्मविद्या दृढ़ से दाढ़्य दृढ़ तच स्वाभाविकमेव मुक्तत्वम वास्तवम सर्वसराद असंसर्गित्वान नभवत निरवयता देव स्वाभाविकम एवं मुक्तत्वम ओ तो मुक्तत्व स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है सर्व स्वाभाविक विद्याकृत जो बल है स्वाभाविक है मुक्तत्व स्वाभाविकमेव इत्यादि आकार अवस्टम्भ दृढ़ निश्चय में मुक्त हूँ नित्य मुक्त हूँ रज्जु को देखने के बाद क्या कहता है ये रज्जु है सर्प कभी नहीं पहले भी सर्प नहीं था आगे भी सर्प सर्प है ही नहीं इसी प्रकार मैं मुक्त ही हूँ ज्ञानी नहीं सोता ही मैं पहले बद्धता भी मुक्त हो गया तुम लोग बंधन में हो यत्न करो कहता आत्मा मैं हूँ मेरे से बिना कुछ भी नहीं और मेरे में बंधन कुछ था ही नहीं फिर किसने बंधन है अन्य में बंधन है ही नहीं एक ही आत्मा उसमें बंधन है ही नहीं नित्य मुक्त है स्वाभाविक में मुक्तत्व वास्तव है आदि असंसर्गित्वात् शरीर इंद्रिय मन आदि के साथ उसका कोई संबंध नहीं स्वाभाविक है नभवत देव आकाश के समान निरवय है शुद्ध मुक्त स्वरूप है ततस्य नित्य मुक्त एव अहमिति अवस्टम्भो विद्याकृतम बलम इत्यर्थ विद्याकृत बल क्या है विद्या से कौन सा बल प्राप्त होता है नित्य मुक्त एव अहम इत अवस्टम्भो इत अवस्टम्भ दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय है कि मैं नित्य मुक्त हूँ नित्य मुक्त मतलब अभी से ज्ञान से हुआ ऐसा नित्य पहले से मुक्त था रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प नहीं रहेगा रज्जु के अज्ञान समय में सर्प रहता है ना रज्जु ज्ञान होने पर क्या कहता है सर्प तीनों काल में नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या मानेगा मैं अभी मुक्त हो गया ऐसा नित्य मुक्त हूं कभी बंधन था ही नहीं यही बल प्राप्त होता है आत्मविधकत बल ये बल अन्य ज्ञान के बिना प्राप्त हो जाएगा नहीं शब्द से कोई कहेगा मैं नित्य मुक्त हूं अंदर कहां पर है अंदर से कह सकता ना नहीं सर्प देखकर भय कर रहा है भय करते ना हम भय नहीं करते हाथ पर काम रहा है इसी पर मैं नित्य मुक्त हूं कोई शब्द से कह दे किंतु आत्मविद्या कृत तो बल है नित्य मुक्त हमेशा दृढ़ निश्चय उसके बाद कोई भय नहीं है यही बल है यही बल से मोक्ष प्राप्त होता है स्वाभाविक मुक्तत्व है भाष्य में आत्मना स्वयं सर्पण बिंदते लभम वीरियम बस अन्य वीर्य है धन सहाय मंत्र औषधि तपोयोग कृतम वीर्यम मृत्यु न शक्नोति अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात् और वीर्य भी प्राप्त होता है धन से सामर्थ्य प्राप्त होता है धनी जो कुछ कर सकता है जिसके पास धन नहीं वो क्या कर सकता है धन बहुत धनी कुछ कर सकता है धन कृत वीर्य भी प्राप्त होता है सहाय कोई सहाय भाई बंधु कोई सहाय कहे तो कुछ सारे अधिक सामर्थ्य आता है और मंत्र से भी दुर्बल है कुछ नहीं किंतु मंत्र के द्वारा कुछ कर देता है मंत्र से सिद्ध मंत्र सिद्ध होने पर कुछ कर लेते हैं लोग उसके पास जाते हैं औषधि कृत औषधि से सामर्थ्य आता है रोगों को नष्ट कर देते हैं औषधि और तप तपस्या करने पर इससे सिद्धि आ जाती है तप और योगाभ्यास करेंगे उससे सिद्धि आ जाती है लोग को जो कहेंगे हो जाएगा किसको अनुग्रह कर दिया किसको अभिशाप दे दिया को किसके मन की बात बता दिया तपयोग कृत अथवा योग करने से अंतकोण शुद्ध होता है जैसे कुछ सामर्थ्य है ये सब जितने विधि है इतने मात्र से मृत्यु का मृत्यु को नहीं जय कर सकते हैं धन से सहाय से मंत्र से औषधि से तप से योग से तप करने पर शुद्धि होते अंतकरण किंतु इतने मात्र से मोक्ष नहीं होगा ज्ञान चाहिए और कोई तप करे यदि कुछ प्राप्त करने के लिए तप तो कर रहा है फल प्राप्ति के लिए करेगा तो अंतगुण शुद्धि भी नहीं होगी योग अभ्यास कर रहा है योग अभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर लिया ज्ञान मोक्ष हो जाएगा नहीं ये जो विधि है इसे विधि प्राप्त होता है जरूर धन से सहाय से मंत्र से औषध से तप से योग से वीर प्राप्त होता है जरूर किंतु वो वीर मृत्युम अभिभवितुम न शक्नोति मृत्यु को जीतने के लिए समर्थ नहीं होता है सामर्थ्य क्योंकि अनित्य वस्तु कृत है अनित्य वस्तु कृत जो है वीर वो भी अनित्य असमर्थ है और आत्मविद्या कृत जो वीर्य है ब्रह्म अहम अहमास्मि से दृढ़ निश्चय हो गया वो जो आत्मविद्या कृत वीर्यम वह वीर्य तो अविद्या का निवर्तक होता है आत्मनेव विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम सान्वय क्या आत्मना विद्यते वीर्यम कहते वीर्यम आत्मनेव विंदते आत्म से वीर प्राप्त होता है ना अन्य ये धन जो आत्मविद्या कृत वीर्य धन से सहाय से मंत्र औषधि तप योग इनमें से किसने किससे प्राप्त होता है किसी से नहीं है वो तो ना अन्य न धन सहाय मंत्र आदि हो वो अन्य के लिए अन्य सामर्थ्य है आत्मविद्या कृत वीर्य के लिए धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कुछ नहीं चाहिए तभी तो धर्म समय से छोड़ करके जंगल में चल जाते राजा महाराजा अभी सो साधु बनते छोड़ करके धन सहाय मंत्र औषधि तपयोग इसको जो बड़ा मान कर रखे वो अज्ञान के अंदर है कोई धन को बड़ा माना सहायक हो मंत्र से औषधि से तप के कारण योग के कारण ये सब सिद्धि सिद्धि नहीं अविद्या के अंतर्गत है ये सिद्धि से विलक्षण है आत्मविद्या कृत सामर्थ्य जो वो सामर्थ्य से अज्ञान की निवृत्ति होती और मोक्ष मोक्ष प्राप्त स्वाभाविक भय नहीं रहता है स्वाभाविकम तच्च स्वाभाविकम मुक्तत्वम वास्तव है द्राल्यम नहीं कह रहा भाष्य में आत्मने विंदते नान्य नेता तो अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या विद्य से आत्मविद्या विद्य का क्या साधन हुआ अन्य साधन न नान्यत साधनम यस्य यस्य विद्या न यस्य विद्यस्य तद्वीर्यम अनन्य साधनम अनन्य साधनत्व किसमें रहेगा कृत वीर्य में अनन्य साधनत्वाद तदेव वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम वही जो कृत वीर्य वीर कैसे है अहम नित्य मुक्त एव ये दृढ़ निश्चय यही सामर्थ्य मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम वही मृत्यु को दबा सकता है साम दबा सकता है मृत्यु को दबा सकता है भ्रांति नष्ट कर देता है अज्ञान का निवर्तक है वही है यतेवम आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मनेव विंदते अतः विद्या विंदते अमृतम आत्मविद्या कृत स्वभाव तो प्राप्त होता है विद्या से अमृत तो प्राप्ति हुई विद्या अमृत आत्म विषय विंदते अमृतम आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम विद्या ज्ञान से ज्ञान तो घट ज्ञान भी है पट ज्ञान भी है व्याकरण का ज्ञान न्याय का ज्ञान वेद वेद का ज्ञान बहुत ज्ञान है किंतु किस ज्ञान से अज्ञान मोक्ष प्राप्त करेगा आत्म विषयया आत्मा विषयस्य अविद्या सा विद्या आत्म विषया तद ब्रह्म वह ब्रह्म इस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अहम अस्मि ब्रह्म आत्म को विषय करने वाले ब्रह्म विद्या आत्म विषयया ब्रह्म विद्या आत्म को विषय करने अहम अस्मि ब्रह्म यह अमृत तो प्रार्थना आयमात्मा बलहीन न लभ्य मुंडक उपनिषद में आया अथर्ववेद में यही बल है आत्मविद्या से सारे विषय दृष्टि तिरस्कार करना दृढ़ निश्चय में आत्मा ब्रह्मैव नित्य मुक्त हूँ ऐसे बल ही ने न अयमात्मा न लभ्य ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो मोक्ष आत्मा की प्राप्ति का अर्थ मोक्ष आत्मा प्राप्त नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा दृढ़ निश्चय संशय विपर रहित ज्ञान अतः समर्थ हेतु अमृतत्व ही विंदते प्रतिबोध विदित मत मतम अमृतत्व भी विन्दते प्रतिबोध विदितम बोध बोध साक्षी को जो आत्मरूप से ज्ञान जाना गया वही वास्तव ज्ञान है क्यों उसका हेतु दिया अमृतत्व भी विन्दते ये कहते अस्माद क्योंकि अमृतत्व प्राप्त करता है अमृतत्व मोक्ष का साधन है जो प्रतिबोध विदितम मतम प्रत्येक बोध के साक्षी रूप से जो ज्ञान वही वास्तव ज्ञान है क्योंकि उससे अमृतत्व प्राप्त करता है वही ज्ञान वास्तव ज्ञान प्रत्येक बोध में आत्मा है अनुगत रूप से रूप रस ज्ञान घटपट ज्ञान होता है प्रत्येक ज्ञान में आत्मा अनुगत रूप से है सारे बोध मृत्यु को प्रकाश करने वाला मृत्यु का साक्षी उसके संबंध से मृत्यु को ज्ञान कहते हैं जड़ है वृत्ति अंतकण परिणाम उसके आत्मा के संबंध से आत्मा का आभास चिदाभास की उत्पत्ति होने से वो प्रकाश जैसे लगने से उसको ज्ञान शब्द से कह देते हैं वस्तु तो सारे वृत्ति में जितने घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान होता है इतना अंतकरण वृत्ति सारे वृत्ति में अनुगत है सारे वृत्ति को प्रकाश करने वाला वही ज्ञान प्रतिबोध विदिता मतम ब्रह्म प्रत्येक ज्ञान का साक्षी है बुद्धि को जानने वाला जो आप बुद्धि को जानने वाला है वही अब बुद्धि को जानने वाला आप देहादि विशिष्ट नहीं है देहादि विशिष्ट नहीं आप जागृत सर स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है सुश्रुति अवस्था में बुद्धि अज्ञान में लीन हो गया हो गई अज्ञान का जो प्रकाशक है वो देहादि विशिष्ट नहीं है वो तीनों शरीर से विलक्षण स्थूल सूक्ष्म का अंतर से विलक्षण जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों का दृष्टा तीनों का दृग तीनों से विलक्षण शुद्ध दृग रूप चेतन आप बुद्धि को जानने वाले वही ज्ञान अहम अस्मि ब्रह्म वही ब्रह्म अहम शब्द से उसको लेना पहले अहम शब्द से देहादि को लिया तो ब्रह्म के साथ एक तो कैसे होगा अहम शब्द से यदि बुद्धि को साखी को समझ लिया मैं बुद्धि को जानने वाला हूँ सारे बुद्धि को प्रकाश करने वाला चेतन में हूँ इसका निश्चय हो गया तो अहम अस्मि ब्रह्म दृढ़ ज्ञान होता है प्रतिबोध प्रतिबोध विदितम मतम उसके हेतु अमृतत्व अमृतत्वम ही विंदते नित्य मुक्त एवं अमित अवस्था में यही बल है अभी इसका पदभाष्य पूरा हुआ वाक्य भाष्य तिरसठ पृष्ठ में केन द्वारेण तरी अविषयतया आत्मावगम्यताम आकांक्षाया आकांक्षायाम आह पहले कहा अविषयतया यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अभिज्ञात विज्ञानता विज्ञातम अभिज्ञानता पूर्व मंत्र हुआ था जिसके मत में ब्रह्म अविषय विषय नहीं होता है वो सम्य ज्ञान है और जो कहता है कि ब्रह्म ज्ञात हुआ वो ठीक नहीं जानता है क्योंकि विजानताम अभिज्ञातम ज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्म विषय नहीं होता अविषयत्व न रहता है और अभिजानताम जो नहीं जानते हैं देहादि में हम बुद्धि करते उनके दृष्टि से ब्रह्म विज्ञात होता है तो ब्रह्म का ज्ञान किस रूप से होगा ना या अविषयत्वेन अविषयत्वेन अभी प्रश्न करते केन द्वारेण तरी अविषयत्य आत्मा अवगम्यता तो, तो न आत्मा का ज्ञान होगा किसके द्वारा आत्मा का ज्ञान आत्मा सब को प्रकाश करने वाला उसको फिर किसी को दर देखेंगे तो ने फिर देखना है जानना अहम अस्मी करके आत्मा तो अविषयत्वेन आत्मा का ज्ञान किसके द्वारा होगा किस साधन से आकांक्षा आकांक्षाएं आह ब्रह्म से भिन्न सौ मिथ्या है ब्रह्म सौ को प्रकाश करने वाला ब्रह्म को प्रकाश करने वाला कोई नहीं और जितने पदार्थ सौ मिथ्या है तो ब्रह्म का ज्ञान किसके द्वारा होगा केन तरी द्वारे न अभिषेत आत्मा अवगम्यता इसलिए उत्तर देते प्रतिबोध विदिता मतम यही ज्ञान है प्रत्येक जो बोध आपको होता है घटपट आदि का ज्ञान रूप का ज्ञान अंतकरण परिणाम वृत्ति उसका जो साक्षी है उसका प्रकाशक आप है क्योंकि आप जानते हैं मुझे घट ज्ञान हुआ घटम हम पश्यामी सुख दुख मेरे में है सुख का अनुभव आप करते दुख अनुभव करते हो जो सुख दुख अनुभव करता है ज्ञान को भी जानता है घट को देखता है प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चेतन जीव घट को देखता है किंतु घट ज्ञान को देखने वाला वो साक्षी है वो है एक साक्षी है जो घट ज्ञान को देखता है पट ज्ञान को देखता है सब को देखता है प्रत्यय का साक्षी सारे प्रत्यय में रहता है प्रतिबोध विदितम वही मत सम्य ज्ञान क्योंकि उससे अमृतत्व प्राप्त होता है और वीर्य तो आत्मविद्या कृत वीर्य स्वभावतः प्राप्त होता है विद्या से अमृतत्व प्राप्ति क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है प्रतिबोध विद्या मतमिति विप्सा प्रत्यानाम आत्मावबोध द्वारत्वाद यांतिक संग्रह वाक्य प्रतिबोध विदित मतमिति विप्सा प्रतिबोध में बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम विप्सा है अब समास है अव्यभाव प्रतिबोध प्रतिबोध में विप्सा है बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोध प्रतिबोधम इसमें प्रतिबोध जैसे प्रतिघरम प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति अटते भिक्षु भिक्षु प्रत्येक घर जाता है देव देवम अभिसिंचति प्रत्येक देव में सेचन करता है विपसा कहते विपसा व्याप्तुम इच्छा व्याप्तुम का अर्थ कार्तनेन संबद्धम सारे को संबंध करने की इच्छा द्वारं द्वारम अटते दो घर नहीं सब द्वार में जाता है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम का अर्थ प्रत्येक ज्ञान वृत्ति ज्ञान में ब्रह्म विदित होता है ब्रह्म है उसी उसी के समय ज्ञान घट ज्ञान की तो घटाकार वृत्ति पट ज्ञान पटाकार वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान में विषय को लेकर गए वृत्ति का भेद करते हैं जैसे आकाश एक ही आकाश सर्वत्र है घटाकाश मठाकाश करकाकाश गुहाकाश नाम अलग कर देते हैं उपाधि को लेकर के उपाधि घट मठ कर को गुहा छोड़ देंगे आकाशम आकाशम एक आकाशम इसी प्रकार ज्ञान विषय को लेकर घटपट आदि को लेकर के भेद सिद्ध करते हैं विषय को छोड़ दिया तो केवल ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम विषय को लेने से विषयाकार वृत्ति भी घट पट मठ कहते सब घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति ये सब भिन्न भिन्न है अंतकरण का परिणाम है इसी से ज्ञान का भेद करते हैं किंतु सारे घट पट घट मठ करक गुहा में जिस प्रकार आकाश एक है इसी प्रकार घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति मठाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति रसाकार वृत्ति जितने वृत्ति ज्ञान सर्वत्र ज्ञान रूप एक ही सबका प्रकाशक वही ज्ञान है प्रतिबोध विद्यमतम विपसा दिया दो प्रत्येक ज्ञान के लेने के लिए क्यों प्रत्यानाम अवबोध द्वार आत्मा ज्ञान का द्वार हो गया प्रत्यय जो घट ज्ञान पट ज्ञान यही द्वार है प्रत्यान प्रत्यय हो गया ज्ञान घट रूप ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान ये जितने ज्ञान होते हैं वही ज्ञान ही द्वार है आत्मा अवबोधम प्रति आत्मा के ज्ञान के लिए द्वार उसे जो प्रत्यय है उसको संदेखना प्रकाश कहाँ है दिखता नहीं आलोक घटपट आदि दिखा दिया तो घट में प्रकाश दिखता है प्रकाश से घट को देखो इसमें घट है यहाँ आलोक बंद कर देंगे यहाँ अभी तो कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा नहीं दिखेगा किसके प्रकाश से दिखेगा सूर्य प्रकाश से कहाँ सूर्य सूर्य दिखता है सूर्य तो नहीं दिखता है किंतु प्रकाश को देखो सूर्य देखो हाँ दर सूर्य प्रकाश दिखता है प्रकाश से वस्तु को दिखाते देखो सूर्य को देखो अब यहां से सूर्य नहीं दिखता है सूर्य है करके निश्चय आपको होगा सूर्य का प्रकाश आता है देखे देखो हाँ देखो दिखता है यहां भी दिखता है लाइट बंद करेंगे तो दिखेगा किसके प्रकाश से दिखता है तो प्रकाश्य को दिखाते हैं प्रकाशक सूर्य को समझने के लिए वृत्ति प्रकाश्य है वृत्ति जितने प्रत्यय ज्ञान सब प्रकाश है उनका अववाचक उनका जो प्रकाशक जड़ में जो चैतन्य देता है चिदाभास संपन्न करता है प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा बिंब के बिना दिखेगा दर्पण में दिखा गया चैतर कहाँ है देखो वो दिखता है उधर बैठा है दर्पण में दिखेगा पीछे तरफ को ये दर्पण से दिखेगा इसी प्रकार यहाँ प्रत्यय को दिखाते हैं प्रत्यय के द्वारा उनके साक्षी को समझना प्रत्यय होता प्रकाश्य और साक्षी प्रकाशक साक्षी को देखने के लिए कोई नहीं है वो तो सब का प्रकाशक प्रकाशक को कौन प्रकाश करेगा इसलिए प्रकाश से वस्तु को दिखाते हैं प्रत्यय है द्वार विपसा इसलिए बोधम बोधम प्रति विपसा सारे बोध का साक्षी है सारे बोध में उसको जानना सारे बोध है द्वार आत्मा बोध द्वारत्वाद आत्मज्ञान का द्वार है कौन प्रत्यय प्रत्ययनाम आत्मावबोध का द्वार आत्मज्ञान का द्वार होने से विपसा दी गई प्रतिबोध बोधम बोधम प्रति एक बोध नहीं जितने ज्ञान बोध है घट ज्ञान पट ज्ञान सब है ज्ञान द्वार है ब्रह्म को समझने के लिए आत्मा को समझने के लिए टीका में विवृणति यहाँ तक संग्रह वाक्य हुआ प्रतिबोध विदित मतमिति विप्सा आत्मा अवबोध द्वारत्वाद ये संग्रह वाक्य इसका विवरण विवृणति बोधम प्रति बोधम प्रतीति विपसा सर्व प्रत्यय व्याप्ति अर्था प्रतिबोध में समास है बोधम प्रति बोधम प्रति प्रतिबोधम बोधम प्रति बोधम प्रति विपसा है विपसा मिशा का कास्ने सारे बोध को संबंध करने के लिए सर्व प्रत्यय व्याप्ति अर्था सर्व प्रत्यय व्याप्ति संबंध सारे प्रत्यय को संबंध करने के लिए विपसा है जितने ज्ञान सब को संबंध सब ज्ञान में बोध चिद्रूप ब्रह्म है सर्व प्रत्यय व्याप्ति के लिए विपसा इसलिए प्रतिबोध विदिता में प्रत्यय का साखी एक दो नहीं जितने प्रत्यय है जितने ज्ञान सब का साखी है तो इसको विचार कर देखे ज्ञान को जानने वाला मैं हूँ घट ज्ञान पट ज्ञान को जानने वाला मैं हूँ ऐसे घट ज्ञान को जानने वाला मेरा क्या स्वरूप है वो जो शुद्ध चिद्रूप है वो घट ज्ञान को प्रकाश करता है रूप ज्ञान को प्रकाश करता है सारे प्रत्यय में व्याप्त है संबद्ध है एक बोध चिद रूप ब्रह्म बौधा ही सर्वे प्रत्ययास तब तो लोहवत नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्तत्वाद विज्ञान स्वरूप भाषा तदन्य भाषाश्च आत्मा तद विलक्षण अग्निवत उपलभ्यते तेन ते द्वारी भवन्ति आत्मा उपलब्धौ हाँ, पहले थोड़ा सा टीका में यथा अस्मिन् शरीरे बुद्धि परिणामा जड़ापि चिद्व्याप्ततया संवेदनपत भाषन्ते इति संपद्यते आगे आगे भाष्य में टीका भाष्य में देखो बौद्धा ही सर्वे प्रत्ययाः सर्वे प्रत्यय बौद्धा जितने प्रत्यय सब बौद्ध है बौद्ध मतलब कौन बौद्ध है बुद्धेर में गौतम बुद्ध नहीं रहना बुद्धेर मिते तो बौद्धा बुद्धि के विकार है सर्वे प्रत्यय जितने ज्ञान है बुद्धि का परिणाम है बुद्धि अंतकण अंतकण का परिणाम होता है यही ज्ञान कहा जाता है बौद्धा ही सर्वे प्रत्यय मिते तो बौद्धा यहाँ बुद्धि का व्याप परिणाम है लोहवत नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्तत्वात् लोहवत लोहा को गर्म करेंगे बहुत गर्म करने से लाल हो जाता है तप्त लोह में अग्नि व्याप्त है लोह में जिस अग्नि प्रविष्ट व्याप्त है इसी प्रकार सर्वे प्रत्यय चिद व्याप्ता जैसे लोह अग्नि से व्याप्त नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्तत्वात् सर्वे प्रत्यय सारे प्रत्यय नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त है नित्य जो विज्ञान उत्पत्ति नाश वाले विज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान उसको नहीं लेना नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान जो स्वरूप है वही आत्मा है नित्य विज्ञान स्वरूप ही आत्मा है सब प्रत्यय को जानने वाला जो ज्ञान का नाश नहीं होता है सुश्रुति में रहता है वो नित्य विज्ञान है घट ज्ञान पट ज्ञान तो नष्ट हो जाते हैं किंतु नित्य विज्ञान वे जो सुश्रुति में भी रहता है जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों में रहने वाला ज्ञान नित्य है वही आत्मा है नित्य विज्ञान सर्व आत्मा से व्याप्त है कौन सर्वे प्रत्यय जितने प्रत्यय सर्वत्र व्याप्त है आत्मा व्याप्त तो आप इसे जड़ में जड़ भी आत्मा से व्याप्त है जड़ में भी है आकाश सब के अंदर है किंतु प्रतिबिंब दिखता है जल में दीवाल में नहीं दिखता है इसे प्रतिम्ब को दिखाने के लिए जल कहते नहीं तो जहाँ जल नहीं खाली पत्थर है वहाँ आकाश रहेगा है आकाश दीवाल में भी आकाश है किंतु दिखता नहीं इसे जल में दिखाते आकाश प्रतिम्ब दिखता है इसी प्रकार आत्मा तो सर्वव्यापक है किंतु प्रत्यय वृत्ति में अभिव्यक्त होता है वृत्ति अभिव्यंजिका आत्मा का जैसे दर्पण में प्रतिम्ब दिखता है दीवाल में प्रतिम्ब नहीं दिखता है आकाश का प्रतिबिंब नहीं देखेगा जल में दर्पण में दिखता है इसी प्रकार आत्मा तो सर्वव्यापक है किंतु वृत्ति में अभिव्यक्ति होती है आत्मा की इसलिए कहा वृत्ति का नाम लिया तप्त लोभत नित्य विज्ञान सर्व आत्मा व्याप्तत्वाद आत्मा से व्याप्त है सर्वे प्रत्यय वृत्ति विज्ञान स्वरूप भाषा विज्ञान स्वरूप का भाषा स्वरूपेण विज्ञान स्वरूपेण अभास शाम प्रत्ययानाम सब प्रत्यय विज्ञान स्वरूप से दिखते ज्ञान रूप से दिखते हैं आत्मा से व्याप्त होने के कारण चिद से व्याप्त होने के कारण चेतन जैसे लगते हैं प्रत्यय चेतन है नहीं जड़ है क्योंकि बुद्धि जड़ है बुद्धि का परिणाम जड़ है और चेतन नहीं है किंतु चेतन से व्याप्त होने के कारण जैसे लौह पिंड अग्नि से व्याप्त होने के कारण वो अग्नि कहते हैं उसको लौह अग्नि से व्याप्त लाल हो जाने पर तप्त अयपिंड ठंडा नहीं बिल्कुल गर्म अयपिंड अग्नि से व्याप्त होने पर लाल हो गया और लोहा जलाएगा हाथ लगाओ तो उसको अग्नि कह देते अग्नि है ही नहीं अग्नि से व्याप्त होने से जैसे अग्नि है इसी प्रकार वृत्ति जड़ है अंतकरण का परिणाम जड़ होने पर भी वो आत्मवत अभास आत्मवत वत ये साम स्वरूप भाषा विज्ञान स्वरूप भाषा विज्ञान स्वरूपेण अभाष ये शाम प्रत्यानाम ते प्रत्यय विज्ञान स्वरूप भाषा विज्ञान स्वरूप से बान होते हैं तद अन्य अभाष्च आत्मा और तद अन्य अभाष्च आत्मा तद विलक्षण हाँ, विज्ञान स्वरूपेण अभाष विज्ञान स्वरूप से प्रकाश होते हैं प्रत्यय किंतु अन्य अभाष चात्मा तदन्य तदन्य अभाष है प्रत्यय रूप जो अभाष उससे भिन्न अभाष स्वयं प्रकाश बुद्धि में जो विज्ञान स्वरूप अभाष होता है प्रतिबिंब है सारे बौद्ध में जो प्रति, बुद्ध प्रतिमा अभाष दिखता है तदन्य अभाष है प्रत्यय से भिन्न जो अभाष है वह आत्मा है प्रकाश बिंब रूप प्रतिबिंब समय दिखता है उसे अन्य भिन्न है बिंब आत्मा तद विलक्षण उसे विलक्षण है आत्मा वो जो स्वयं प्रकाश है अग्निवत थे अग्नि जैसे सारे प्रत्यय लौह में अग्नि अलग है प्रविष्ट है सारे प्रत्यय में वो तो प्रत्यय में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है किंतु उससे भिन्न है बिंब रूप चेतन तद विलक्षण अग्निवत थे अग्नि के जैसे सारे लौह पिंड में अग्नि को देखना इसी प्रकार सारे प्रत्यय में उसका उसे विलक्षण आत्मा जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसका ही ज्ञान होता है इति तेन ते द्वारी भवन्ति आत्म उपलब्धो ते के प्रत्यय आत्म उपलब्ध द्वारी भवन्ति आत्मा साक्षात्कार करने के लिए प्रत्यय द्वार है प्रत्यय के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना है यथा अस्मिन् शरीरे बुद्धि परिणाम जड़ापि चिद व्याप्ततया संवेदन भासन्ते इति संभाव्यन्ते संभाव्यते जिस इसी शरीर में जड़ बुद्धि के परिणाम है ज्ञान वृत्ति बुद्धि जड़ है या चेतन है किंतु बुद्धि का परिणाम जड़ है या चेतन है जड़ है मिट्टी का परिणाम मिट्टी है बुद्धि परिणाम जड़ा भी जड़ होने पर भी चिद व्याप्ततया चेतन से व्याप्त होने के कारण संवेदनवत भाषणते चेतन जैसे लगते हैं बुद्धि के परिणाम जड़ है वृत्ति किंतु चेतन चिदाभास से युक्त होने से ज्ञान जैसे लगते संवेदनवत लगते हैं जड़ानाम स्वाभाविक प्रकाश अनुभवते जड़ में स्वाभाविक प्रकाश होगा जड़ में प्रकाश दिखता है तो रूप प्रकाश है बुद्धि जड़ है बुद्धि का परिणाम जड़ है फिर चेतन जैसे लगता है क्यों वो चिद व्याप्ततया चेतन से व्याप्त होने से लहो स्वाभाविक जलाने वाला नहीं है अग्नि व्याप्त होने पर अयोदहति इसी प्रकार वृत्ति जड़ है किंतु स्वाभाविक उसे प्रकाश नहीं होने पर भी चेतन ब्रह्म से व्याप्त होने से चेतन जैसे दिखते हैं स्वाभाविक प्रकाश नहीं जैसे अपने शरीर में बुद्धि परिणाम वृत्ति पर प्रत्यय है जड़ है चिदाभास के कारण चेतन जैसे लगता है इसी प्रकार सब के शरीर में तथा सर्व शरीर से बौद्धा कौन से केवल अपने बुद्धि नहीं जितने बुद्धि सब बुद्धि का परिणाम प्रत्यय जितने प्रत्यय सर्व सर्वस्व बहुधा प्रत्यय सबके शरीर में बुद्धि के परिणाम प्रत्यय वृत्ति यद व्याप्ततया संवेदनवद भासन्ते स्वस्थिति संभाव्यते आपके शरीर के अंतर्गत अंतकरण का परिणाम वृत्ति बुद्धि का परिणाम बुद्धि हुई बुद्धि जड़ है ना नहीं आपके बुद्धि उस वो चेतन जैसे लगती है जिस चेतन के संबंध से वृत्ति जड़ जैसे चेतन वृत्ति जड़ वृत्ति चेतन जैसे लगती है इसी प्रकार सौ के शरीर में बुद्धि का परिणाम प्रत्यय जिससे व्याप्त होकर के संवेदनवद थे ज्ञान जैसे लगते हैं आपकी बुद्धि जैसे आपको ज्ञान जैसे दिखती बुद्धि का परिणाम ज्ञान जैसे लगता है सौ के शरीर में बुद्धि का परिणाम संवेदनवद भासनते ज्ञान जैसे दिख लगते हैं जिसके संबंध से एक चेतन के संबंध से ही सब चेतन जैसे लगते हैं लौह जिस प्रकार एक लौह नहीं जितने लोह को लाल करो जिस अग्नि के संबंध से सब लाल लाल जलाते हैं वो अग्नि लौह से भिन्न स्वस्थिति संभाव्यते मानना पड़ेगा सारे बुद्धि के परिणाम प्रत्यय जड़ जिसके संबंध से प्रकाश जिसे लगता है लगती है वृत्ति वो अन्य है चेतन मानना पड़ेगा अन्य स्थिति ये तो दूतम होते उसका स्पष्टीकरण है आगे आए ओम आप्यायन्तु मम